सुरगण सहित सभय सुर राजो सोचहिचतन काजो बनत उपाव करत कुनाहे राम शरण गे बन माही। बहुरी विचारी परस्पर कहे रघुपति भगत भगति बस यही सुधि करियम्ब ऋष दुर्वासा सुर पति निपट निराशा देवगणों सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है कुछ उपाय करते नहीं बनता तब वे सब मन ही मन श्री राम जी की शरण गए फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी तो भक्त की भक्ति के वश हैं अम्बरीश और दुर्वासा की घटना याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए सहे सुरन् बहु काल के नर प्रहलाद प्रगट लगी कान लगि धोनि माथा अब सुर का भरत के हाथ देखिय देवा। मानत राम सुसेवक सेवा सुमे रहु सब भाति हियस प्रेमसुमे भरतहे निजगुणशील राम बस कर तहीं पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे तब भक्त प्रहलाद ने ही नृसिंह भगवान को प्रकट किया था सब देवता परस्पर कानों से लग लग कर और सिर झुन झुन कर कहते हैं कि अब इस बार देवताओं का काम भरत जी के हाथ है हे देवताओं और कोई उपाय नहीं दिखाई देता श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को मानते हैं अर्थात उनके भक्त की कोई सेवा करता है तो उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं अतएव अपने गुण और शील से श्री राम जी को वश में करने वाले भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करें सुरम सुरमत सुर गुर कहो भल तुम्हार बड़ भाग सकल सुमंगल मूल जब भरत चरण अनुराग देवताओं का मत सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा अच्छा विचार किया तुम्हारे बड़े भाग्य हैं भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है सीतापति सेवक सेवकाये सय सरिस सुहाये भरत भगत तुम्ह रे मन आये तजहु सोच विधि बात बनाए पते भरत प्रभाव सहज सुभाय बिबस रघुराओ मन थिर करहु देव डरुनाहे भरत रे राम परिछाहे सीतानाथ श्री राम जी के सेवक की सेवा सैकड़ों काम धेनुओं के समान सुंदर है तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है तो अब सोच छोड़ दो विधाता ने बात बना दी हे देवराज भरत जी का प्रभाव तो देखो श्री रघुनाथ जी सहज स्वभाव से ही उनके पूर्ण रूप से वश में हैं हे देवताओं भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई परछाई की भांति उनका अनुसरण करने वाला जानकर मन स्थिर करो डर की बात नहीं है सुनि गुसुर गुर सुर सम्मत सोचो अंतर जामी प्रभु ही सकोचो निज सिर भारो भरत जी जाना करत कोटि विधि उरयनुमाना करि विचारु मन देन् ठा राम राजा आपन निका निजपन तजरा खे छोहु सने हो नहि थोरा देवगुरु बृहस्पति जी और देवताओं की सम्मति आपस का विचार और उनका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री राम जी को संकोच हुआ भरत जी ने अपने मन में सब बोझा अपने ही सिर जाना और वे हृदय में करोड़ों अनेकों प्रकार के अनुमान विचार करने लगे सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया कि श्री राम जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा यह कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं किया अर्थात अत्यंत ही अनुग्रह और स्नेह किया किन्हयनुग्रहयमितयते सब विधि से तानाथ कर प्रणाम बोले भरतु जोर जलग जोड़ जल जुगहाथ श्री जानकी नाथ जी ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया है तदनंतर भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले